परमात्मा के ही लिए है इस प्रकार का भाव जब व्यक्ति के अंदर आ गया तो ये समझो ये परम धर्म है परम धर्म में हाँ, दो भाई दो भाई मैंने दो करके लो विश्वास रूपी पात्र में परम धर्म रूपी दूध इकट्ठा करो मैंने शास्त्र का अध्ययन करते करते विश्वास भी परमात्मा में आवे और परमात्मा मैंने परमात्मा समझे परमात्मा है परम तत्व है वही जीवन का आधार है इस प्रकार की भावना हृदय में भरो बात आ जाए जो भाई प्रगट अवत तो अनन अपान बनाई अब तो उस दूध को जैसे गर्म किया जाता है होता जाता है उसको अपना मन गर्म करते हैं तो आप दूध को गर्म करने के लिए आग चाहिए तो आपके ऊपर रखा गया और फिर उसको गर्म किया गया अब यहाँ क्या करें ये परम धर्म को क्या करे कि इसको अकांत की अग्नि पर अवते अकांत मैंने बस उसमें परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा तो बहुत करते हैं लोग का लेकिन सकाम भाव से करते हैं भगवान में विश्वास भी बहुत रखते हैं लेकिन सकाम भाव से रखते हैं तो कहते उस सकामता को छोड़ो अकामता लाओ निष्काम बनो परमात्मा को क्यों चाहिए परमात्मा ही स्वयं कर्तव्य है परमात्मा को चाहिए इसलिए नहीं कि परमात्मा के पिता का कोई दूसरा प्रयोजन हो परमात्मा इसलिए नहीं चाहिए कि हमें बहुत धन संपत्ति प्राप्त हो जाएगा परमात्मा इसलिए नहीं चाहिए कि हमें व्यक्ति हमारे रोगों को दूर कर देगा हमारे काम बना देगा ये जिससे तो सकामना हो रही है तो इस प्रकार का परमात्मा की जरूरत नहीं कहते परमात्मा की प्राप्ति करना सीधे परमात्मा ही स्वयं प्रयोजन है परमात्मा के लिए ही परमात्मा को प्राप्त करना है परमात्मा के प्राप्त करने का कोई अन्यथा प्रयोजन नहीं लौकिक प्रयोजन संसारी प्रयोजन स्वर्ग आदि का प्रयोजन ये कोई प्रयोजन नहीं तो इन सब प्रयोजनों को छोड़ करके इनकी सबकी कामना छोड़ करके परमात्मा में विश्वास और परमात्मा पर हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य परमात्मा ही है परमात्मा को ही प्राप्त करना कोई हो क्यों अरे कहा यही तो प्राप्त तो है यही तो परम धर्म है यही तो जीवन का अंतिम उद्देश्य है अरे कहा ये उद्देश्य क्या है अब इसमें उद्देश्य क्यों तो क्या सवाल परमात्मा आनंद स्वरूप है शांत स्वरूप है विश्राम स्वरूप है अमृत स्वरूप है और क्या चाहिए ये परमात्मा जो कुछ वही होने चाहिए सब इसलिए परमात्मा ही चाहिए परमात्मा से प्रकट कुछ चाहिए आनंद स्वरूप परमात्मा की कामना हम इसलिए करें जिससे तुम्हें दूसरे को प्राप्त ये तो मूर्खता की बात है परमात्मा स्वयं आनंद स्वरूप है तो परमात्मा ही प्राप्त हो उसी का आनंद में प्राप्त हो दूसरे लोगों का सब ऐसा इसलिए कहते हैं कि उसमें कोई निष्कामता लाए परमात्मा में भी निष्कामता जैसे धर्म है वो धर्म भी दो प्रकार का आसन धर्म का आसन व्यक्ति करते हैं सकाम भाव से करते हैं निष्काम भाव से करते हैं इसी प्रकार से परमात्मा भी दो प्रकार का है एक सकाम भाव का एक निष्काम भाव का जब लौकिक धर्मों में से जब सधर्म सामान धर्म लोग पालन करते हैं तो सकाम होते हैं तो फिर भौतिक सुख की कामना करते हैं तीर्थ की कामना करते हैं तो उनका ये धर्म सकाम हो गया जब इनकी कामना नहीं करते चाहते हैं कि हमारे चित्र में सत्युगुण इत्यादि की वृद्धि हो परमात्मा की प्राप्ति हो तब फिर वो धर्म का पालन करते हैं इस धर्म का पालन करते हैं तो निष्काम हो गए निष्काम करने योग्य ही बन जाता इनकी कामना को छोड़ करके धर्म का पालन करना निष्काम करने योग्य बन गया लेकिन जब परमार्थ हुआ तो यहाँ से परमार्थ यहाँ शुरू होता है जब व्यक्ति में वैराग्य त्याग आया यहाँ से आगे परमात्मा को चाहता परमात्मा को चाहता तो परमात्मा की चाहना ही तो दो प्रकार है हम परमात्मा को इसलिए चाहते हैं उसका भजन उपासना इसलिए करते हैं जिससे कि हमें स्वर्ग की लौटी सुख प्राप्त होगी ऐसा भी करते हैं तो ये सकाम हो गया परमात्मा निष्काम कर हो गया जब हम इनकी कामना न करें और परमात्मा की कामना करें क्योंकि परमात्मा स्वयं परम प्राप्त है वो स्वयं ऐसी वस्तु है जो उससे महान कुछ भी नहीं उसी को हमें प्राप्त करना है तो निष्काम का हो गई इस प्रकार से कहते हैं कि यहाँ पर है अब तो अनिल अकामपनाई मैंने जो शास्त्रों का अध्ययन करने पर जो परमात्मा का ज्ञान आया वो विश्वास के पात्र में रखे कि मैंने उसने उस परमात्मा के ज्ञान में विश्वास रखा विश्वास पूर्वक परमात्मा का ज्ञान हो और उस परमात्मा के प्रति भाव भी हो हमारा मैंने उसमें ये कोई परमात्मा ही हमारा परम प्रिय है वही हमें प्राप्त करना है और उसके अतिरिक्त परमात्मा के अतिरिक्त हमें और कुछ नहीं चाहिए जब ऐसा वो विचार करेगा तो इसके माने उसका वो परमात्मा का जो परोक्ष ज्ञान है वो पता ये ज्ञान है ये तो आगे दूध बन करके परमात्मा परोक्ष ज्ञान लेकिन परोक्ष ज्ञान पक करके विज्ञान बने तो परमात्मा की प्राप्ति हो इसलिए जो है उसको पता रहे औते अनिल अकाम बनाई और दोष मरित तब क्षमा जोड़ा हो अब दूध गर्म करके और तो गर्म दूध नहीं जमाया जाता उसको थोड़ा ठंडा करो तो थोड़ा हवा लगा उसके ऊपर पंखा उठा जाए उसके ऊपर तो दूध ठंडा हो तो दूध ठंडा कैसे करो दोष मरुत मरुत बना हवा उसको हवा दो चाहिए संतोष की तो उसमें ना संतोष अब उसके बाद में संतोष व्यक्ति हो जाए संतोष के तो माने जो कुछ जीवन यापन के लिए जो कुछ भी उपलब्ध होता है प्राप्त होता है वो पर्याप्त है बस वो हमारे कर्मानुसार प्राप्त हुआ है वही पर्याप्त है अब उसके पीछे हाय हाय न करे हाय हाय बहुत थोड़ा है हाय हाय कहीं मिला है हाय हाय कई है ये सब कृपा समाप्त हो जाए तो जहाँ परमात्मा में विश्वास होगा निष्कामता आएगी तो निष्कामता की सूचना ये कि संतोष हो और संतोष में कि निष्काम हो जाएगा तो निष्काम अगर है तो संतोष नहीं होना चाहिए तो फिर कहते हैं कि उसमें व्यावहारिक जीवन में संतोष होकर के उसका जीवन चलेगा तो ये कहते हैं दोष मर्द और क्षमा जो आगे और क्षमा उसको जब वो हो क्षमा भी संतोष हो और क्षमा हो क्षमा के तो मैंने अब दूसरे लोग जो जहाँ अपराध करते हैं उनको क्षमा करने का लगता है अब कोई करना तो क्षमा नहीं कर सकता जब नहीं कर सकता तो आगे की गाड़ी भी थप पाप थी जहां तक पहुंच गए वहां तक पहुंच गए बाकी खड़े हो बहुत बार ऐसी करते भाई मैं क्षमा नहीं करता ऐसा लगता है कि क्षमा कर देना बहुत बड़ा अपराध है लेकिन आप अगर आध्यात्मिक साधना अपनी आगे बढ़ानी है तो क्षमा करना सीखो अभ्यास करो क्षमा क्योंकि संसार में है तो जैसे भले बुरे अनेक प्रकार के व्यक्ति हैं और गलत सही तमाम प्रकार का कार्य करते हैं और अपने साथ भी विभिन्न प्रकार का व्यवहार करते हैं कोई मन मान है कहीं सम्मान है कहीं अपमान है कहीं निंदा है कहीं स्थित है कहीं भलाई है कहीं बुराई है ये तो दुनिया में होते ही रहता है ये तो संसार का स्वभाव ही है कहीं किसी बात को अच्छा लग जाए तो प्रशंसा कर किसी को ईर्षा दोष लग जाए तो बुरा लग जाए तो खराब लग जाए तो निंदा कर देगा तो ऐसा ऐसा तो संसार सदा से रहा है सबके साथ अपने साथ नहीं हुई अब इस संसार को कोई बदल दे तो सबके साथ हमारी प्रशंसा ही प्रशंसा करें निंदा कोई न करे तो आज तक किसी के संसार उसके सामने ऐसा आया सके कि तो प्रशंसा ही करें बता दीजिए हम कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके सामने सब ऐसे व्यक्ति हों जिसका प्रशंसा ही करने वाले हो निंदा कोई न करता उसको ऐसे उदाहरण होता तो कि क्या गुण आप पास अपने ढूंढ लो किसी व्यक्ति को तो देखो एक ऐसा व्यक्ति है इसकी कहीं कोई निंदा ही नहीं करता बड़े से बड़े तपस्वी त्यागी हो गए तो बड़े से बड़े अपनी सारी जान लोगों ने लगा दी लेकिन निंदा करने उनकी भी निंदा करना चाहिए उन्होंने सारा जीवन किस प्रकार लगा दिया नोटी लगा करके पूजे बंदे किस प्रकार कार्य किया सारे जीवन जुटे रहे कितना सब काम किया लेकिन निंदा करने वाले उनकी भी निंदा कर पाते ये सब त्यागी व्यक्ति हो गए भारतीय संस्कृति के उद्धार के लिए सारा जीवन लगा दिया कितना उन्होंने दौड़ धूप हाथ भाषण लक्षक लिखा पड़ी सब कुछ उन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगा दी लेकिन उनकी निंदा करने वाले व्यक्ति उनकी भी निंदा की जैसे व्यक्ति ने सारा जीवन देश के लिए अपने अपने धर्म की रक्षा के लिए सारा जीवन लगा दिया छोटा सा जीवन एक एक क्षण क्षण उसी में लगा दिया हाँ लेकिन निंदा करने वाले उनकी भी निंदा रोज लाख नहीं होने से कोई ऐसा व्यक्ति ये तो ऐसे ही है कि जैसे एक बार जो है वो गौतम बुद्ध के सामने एक स्त्री जो है वो अपना मरा हुआ पुत्र लाकर उनके सामने रख दिया और कहा कि आप तो बड़े शुद्ध महात्मा हो हमारे पुत्र को आप जिंदा कर दो और कर दो जिंदा और नहीं कर दो जिंदा और इधर उधर प्रणाम सब उतर नहीं नहीं कर दो आप तो बड़े महात्मा हो बड़े शुद्ध हो हम जानते हम जानते नहीं कर दो कर दो आप पीछे पड़ेंगे गौतम तो बुद्ध ने एक युक्त सोची कि अच्छा हम तुम्हारे पुत्र को जीवित कर देंगे लेकिन एक शर्त है तुम जाओ किसी घर से थोड़े से राई के दाने मांग लाओ ऐसा घर पर मांग लाओ जहाँ तुम्हारा मरा न हो जिस घर में धो और वहां से राई के दाने छोड़ ले आओ बस हम मन अपना देखिए कुछ हो जाए वो दौड़ी तो उसने पंजाब साहब के किसी घर में कहीं मिल जाएंगे उस प्रकार के एक घर में कोई थोड़े भाई के दाने दे दो हमारा पता मर गया और मत करना पता तो के दाने लाने लगे कहा ऐसा बता तुम्हारे घर कोई मरा नहीं अरे तुम मरा होता है हमारे बाबू मर गए हमारे दादी मर गए तो तुम्हारे विकास रहेगा दूसरे घर में दौड़ो तीसरे घर में दौड़ो गांव भर में घूम गई कोई घर ऐसा नहीं मिला जिसके घर में कोई मरा न हो तो समय कहा हमें तो ऐसा कोई घर नहीं मिला जहाँ कोई मरा न हो पता तो बस अपनी इतनी जरूरत में समझ आ रही होगी कि दुनिया में जिसका शरीर धारण करता मरता सब ये शरीर सभी है चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो मरता तो कभी न कभी है ही है ऐसे करके तुम जाओ पता लगाओ घर घर जा करके कि कौन ऐसा व्यक्ति है जिसकी तो कोई निंदा न करता हो विरोध न करता हो अपमान न करता हो दो कर लाभ न हो जाकर छोड़ो दुनिया में जगह भूल करो जब आपको कोई व्यक्ति न मिले तो चुपचाप बैठ जाओ कि भाई अगर हमारी कोई निंदा करता है तो ये तो संसार का स्वभाव है ऐसा तो होगा ही होगा हमें क्या करना चाहिए किसी के बीच में हम अपने आप को चाहे चर्चा करते हैं झगड़ा प्रताप करते हैं और चाहे शांति से अपने चुपचाप बैठे क्षमा करते हैं हैं अरे भाई वित्तीय अकल उतनी काम करते हैं बस हटा क्षमा छुट्टी हो गई अब कौन असल की बात है दो में तो यही समझ लो अगर कोई निंदा करता है तो उसके पीछे लागे जोड़े है ये क्षमा कर लोग कहेंगे तो हम क्षमा कर देंगे तो हमारे शब्द चलेगा फिर तो क्या है वो तो और निंदा करेगा फिर तो और परेशान करेगा फिर और कुछ देगा अब उसके लिए आप जो परमात्मा अपने चित्र को लगाओ धीरे धीरे क्षमा करने वो जो लोग जो निंदा करने वाले हैं वो भी चुप हो जाएंगे एक दिन नहीं चुप होंगे दूसरे दिन होंगे वो कब तक शुद्ध करते रहेंगे कब तक क्या करते रहेंगे इसलिए क्षमा जो है बहुत बड़ा गुण है जल्दी समझ में नहीं आता क्षमा करना आसान बात नहीं जैसे क्रोध को सहन करना मुश्किल है क्रोध आता है लेकिन क्रोध को सहन करे आसान काम नहीं है इसी प्रकार के व्यक्ति को जब क्षमा का प्रश्न आता तो क्षमा कर दे जब न हो मन में उसको जो है विरोध उत्पन्न न करे ये भी आसान काम नहीं क्षमा का नाम यहाँ पर ला करके लिया जब इतनी बातें श्रद्धा से जब तक मन ये सब हो गए और भाव हो गया निवृत्ति हो गया विश्वास हो गया निर्मल मन हो गया तब आपकी क्षमा करने की सामर्थ आई क्षमा अज्ञानी व्यक्तियों में संसारी व्यक्तियों में देहाभिमानियों में मूर्खों में क्षमा करने की सामर्थ्य होती है साधन विहीन व्यक्ति विचारी क्षमा नहीं कर सकते व्यक्ति जो है शक्तिशाली व्यक्ति जर्मल व्यक्ति नहीं करते लोगों को लगता है क्षमा करिए हम कमजोर हैं इसलिए क्षमा कर लिया ऐसा नहीं है क्षमा वो करता है जो शक्तिशाली है शक्तिशाली वो है जिसका आध्यात्मिक साधना से है अपने भीतर पर मजबूत है जड़ है ज्ञानवान है विचारवान है प्रकाशक स्वरूप तेजो में है वो क्षमा कर सकता है जो व्यक्ति खोखला है भीतर से तो कुछ नहीं है तो वो क्षमा करने की सामर्थ्य नहीं होगी नहीं कर सकता वो दुर्बलता का लक्षण है क्षमा हीन होना व्यक्ति की दुर्बलता का लक्षण तो ये कहते हैं क्षमा जो है वो क्षमा भी अपने मन को शांत करती है जब हम दूसरे व्यक्ति को क्षमा करते हैं तो क्षमा हमारे मन में क्या करती है हमारे मन को शांत करती है हाँ? संतोष क्या करता है हमारे मन को शांत रखता है जब शुद्ध मन हो और संतोष और क्षमा लाएंगे तो मन में शांति रहेगी उस शांति की अवस्था में फिर वो हो जो हमारा ज्ञान अर्जित किया हुआ कर्म किया हुआ ज्ञान था वो धीरे धीरे करके अब शीतलता को प्राप्त होगा अब इसी प्रसंग को अगर रामचरित मानस के दूसरे को उन्होंने कहीं भी अन्यत्र मिलाने तो आपको क्षमता मिलेगी इसी प्रकार से रामचरित मानस के बाल कांड में कहते हैं कि देखो पहले तो जहाँ उसको मानस का रूपक जहाँ प्रारंभ किया वहां पर मानस कैसे तो बन गया पहले लोगों ने भगवान की कथा सुनाई और सुन करके कानों के द्वारा होकर के मन में पहुंचे और मन में पहुंच करके उस कथा का क्या हुआ वहां जाकर के खिरानी खिरानी की और जरूरत क्या है जब कथा सुनी उसमें तो भली भरी तमाम बातें मन की जो थी उसमें मिल गई पहले से व्यक्ति के मन में जो विकार थे वो कथा के साथ साथ आकर के वो भी जुड़ गए और आकर के अपने मन में पहुंचे भी जैसे पानी मैला पानी बरसात में इकट्ठा होता है जैसे कथा सुनी तो अपने भीतर मैला पानी जैसा इकट्ठा हो गया लेकिन बाद में धीरे धीरे फिर आना तो नियम ये है कि जो ज्ञान और भक्ति है ये प्राप्त करे व्यक्ति लेकिन इसको फिराने के लिए समय लगेगा इसको ठंडा करने के लिए भीतर अपना काम दिखावे प्रभाव दिखावे धीरे धीरे करके ये सही रूप इसका अपने हृदय में आवे इसके लिए समय लगता है तो व्यक्ति को प्रतीक्षा करनी पड़ती है उसी को यहाँ कहते हैं जिस गैन रूप को ठंडा करने के लिए क्षमा और संतोष के द्वारा धीरे करके बैठे व्यक्ति तब धीरे धीरे वो ज्ञान उसके अंदर परिपक्व होगा इसकी प्रतीक्षा करें तो कहते दोष मरुत कभी क्षमा जोड़ा और धटी सम जामन दे जमावे फिर धृति उसमें व्यक्ति में आ गई और धरती जो धरती कैसी धरती और सम भाव ये जो है जामुन बेल जुड़ावे जैसे जामुन बेल जमावे जैसे अंडा दूध करके फिर उसमें जामुन मिलाओ जामुन मिलाओ दही थोड़ा सा लेकर के पहले हो दही और थोड़ी खट्टी चीज लेकर के दूध में डाली और डाल करके उसको हिला दिया गया सब में दूध में मिला दिया गया मिलाकर उसे रख दिया गया बाद धीरे धीरे दूर जो है जमने लगेगा दही बनने लगे तो इसी प्रकार से ये ज्ञान धीरे धीरे करके ठंडा ज्ञान जो है समस्त भाव आ जाए तो उसके लिए थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा वो ज्ञान धीरे धीरे करके चित्र में जाएगा और क्षमता उत्पन्न करेगा क्षमता के माने एक परमात्मा ही सर्वत्र है और वो वो क्षमता हो जाएगी प्रधान जो ऊपरी ऊपरी भेद दिखाई देते हैं वो सब समाप्त हो जाएंगे ऐसे समस्त दृष्टि धीरे धीरे आने लगी ये समस्त भाव आने लगा ये उसका मन दही जमने लगा अभी ज्ञान पूरा ज्ञान नहीं बना अभी जो है विज्ञान नहीं बना अभी ज्ञान नहीं है अच्छा वाला ज्ञान परोक्ष ज्ञान वाला जो ज्ञान है अब वो तैयार होकर के अपरोक्ष बन रहा है धीरे धीरे अपने भीतर अब ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे परोक्ष ज्ञान जैसे प्राप्त करता उनका अपरोक्ष ज्ञान मतलब तो नहीं होता उसके लिए धीरे धीरे करके परोक्ष ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान धीरे धीरे अपना रूप धारण करता है तब ये हो रहा है कृष्ण जो ये संज्ञान में देवी जो भक्त जो है धैर्य भक्त के मैंने है जो धैर्य रखे अपने अंदर अब गीता में धृति भी तीन प्रकार की बताई गई सात्विक धृति है राजस धृति है कामस धृति है प्रकृति तो को और उन्हीं को धैर्य समझ लो कि धैर्य धारण करके बैठे और जो ज्ञान उसने प्राप्त किया उसको भुलाए नहीं स्मरण रखे और वो अपने चित्र में जमने दे स्थान प्राप्त करने दे उसको फिर मुदिता है विचार आनी अब जो ज्ञान उसके हो गया अब दही रूपी ज्ञान हो जाए हम्म? तो जैसे दही मखा जाता है ऐसे अपने प्राप्त किए हुए ज्ञान को पहले चित्र में रुकने दो और जब रुके तब उसको मथो के माने तुम चिंतन करो उसका बार बार विचार करो क्योंकि हमने ज्ञान प्राप्त किया यही सत्य है अन्यथा तो नहीं है जैसा विचार हमने जाना शास्त्रों का के द्वारा ये शास्त्र में यही जीवन का रूप जगत का रूप परमात्मा का रूप यही है ये बार बार उसका विचार करो मुदिता मत के माने है मटका मुदिता रूपी मटका में दही भरो और विचार की मथानी बनाओ ये सब मथने की तैयारी है जो दही पहले जमाया था उस दही को मुदिता मुदिता मैंने मुदित रहो प्रसन्न रहो मैंने अब उसमें अप्रसन्न कभी कभी हो जाओ नाराज हो गए अप्रसन्न हो गए दुखी हो गए तो फिर वो ज्ञान जो है आगे बढ़ेगा नहीं इसलिए ज्ञान ज्ञान को और आगे बढ़ाए रखने के लिए वो प्रभावशाली बनाए रखने के लिए सदा प्रसन्न रहो मुदित प्रसन्नता रूपी उसमें पात्र में अब उस दही को रखो क्षमता रूपी गति रूपी जो जो ज्ञान है वो उस ज्ञान को उसमें रखो मत के माने है मटका और विचार की मखानी बनाओ मानो विचार और दम आधार है जो शक्ति समानी और दम जो है उसका आधार बनाओ दम दम के माने मनोनिग्रह कि इंद्रिय निग्रह ये दम है कि ये दम को आधार बनाओ आधार को मैंने मटका हिले डुले नहीं इसलिए उसको बांध के उसके एक पहले से एक खम्भा भी होगा उसमें फिर मटके के गले में एक रस्सी डालेंगे और उस खम्भे में रस्सी डालेंगे जैसे जब उसको खींचे उसको तो मटका इधर खींचना होगा उसको उसके गले में और नीचे मटके के नीचे भी एक कोई गोल चीज ऐसी रखी जाएगी जिससे मटका रखा जाए जो सड़ते नहीं तो नीचे भी नहीं करते ऊपर से उसका मोहरा भी नहीं करते तो इसके इस प्रकार बकरे को जैसे एक खंभे से बांध करके उसको रखते हैं इस प्रकार से यहाँ पर कहते हैं कि दम आधार इस मटके का आधार कम है रजु सत्य सुबानी और सत्य सुबानी जो है उसकी रस्सी है मैंने मखानी में उसमें चारों तरफ रस्सी पर लगाई तो रस्सी लगा करके जो वो बांधी और घुमाते उसको तो जिस रस्ते से मखानी घुमाई जाती है वो सत्य और सुबानी रूपी रज्जु है मखानी घुमाने के लिए एक रस्सी चाहिए चाहिए मखानी को खंभे में बांधने के लिए भी एक रस्सी चाहिए और मटके को भी मोड़ा बांधने के लिए खंभे में एक रस्सी चाहिए और मटके के नीचे भी अटकनी लगाने के लिए भी एक गोल गोल चीज होनी चाहिए तो मटका हिले ट्रेन कितना डिजाइन जब करेंगे तब वो जो है कोई दही मखा जाएगा हम्म। तो इनमें भी यहाँ पर भी साधना में भी इन सब साधनों की भी आवश्यकता है मैंने जब हम अपने जो ज्ञान हमने सीखा उसका चिंतन करें अपने विचार करें कि इस ज्ञान का इससे कैसे संबंध है उससे कैसे संबंध है गीता में इस प्रकार से कहा गया तो वहाँ ऐसा क्यों कहा गया यहाँ पर आना में ऐसा कहा गया तो क्यों कहा गया दोनों में कैसे तालमेल बैठता है ये बात हम पहले समझते थे उससे कहाँ तक ठीक है हम पहले समझते थे ये ठीक है अब समझ में आता है ये ठीक है ये तो सबको बैठे बैठे अपने हृदय में ही उनका चिंतन करें ये विचार करना विचार योगी जो शास्त्र में जो अब तक श्रमण किया जो ज्ञान परोक्ष रूप से हमको प्राप्त हुआ उस ज्ञान के ऊपर विचार करें मैंने उसका स्मरण करें और अपने भीतर देखे इसी प्रकार को कि जैसा कहा गया उसमें कहा गया कि देखो ये मन की जो वृत्तियां ये परिवर्तनशील है हाँ? इनका दस्ता एक साक्षी नित्य विद्यमान है और चिंतन ज्ञान क्या है या उस साक्षी को अपने भीतर स्वयं देखो नहीं खोजो जहाँ जैसे साक्षी शास्त्रों में कहा गया वो साक्षी अपना रूप है अपने हृदय में है तो एक ऐसा चैतन्य ऐसे करके अनुभव भी करो अपने अंदर ये सब चिंतन के रूप है और ऐसा करने के लिए जब व्यक्ति अपने हृदय में साक्षी का चिंतन करे आत्मा का चिंतन करे परमात्मा का चिंतन करे तो प्रसन्न चित्त होकर के करेगा तो, तो सफलता मिलेगी और प्रसन्न चित्त होकर के नहीं करेगा तो उसको कुंठित होकर के करेगा दुखी होकर के करेगा तो उसके उस ज्ञान से उसमें जो सफलता आगे नहीं मिलेगी इसलिए मुदिता कह दिया दम इसलिए कह दिया कि मन जो विष्णु की तरफ में जाए मन अपने इसी ज्ञान के विषय में परमात्मा साक्षी आत्मा इनमें मन लगे ये दम हो गया जैसे रस्सी जो हमें बांधे रखती है पात्र को खंभे से मखाने को इसी प्रकार से जो है ये अटकने उसको रोके रहती है पात्र को इसी प्रकार से मन परमात्मा की तरफ लगा रहे जब दम होगा तब और साथ दम से ही बन गए दाम दाम क्यों बने उसके तो ये रस्सी जो है जिससे कि पात्र बना हुआ है तो ये दम रूपी होना चाहिए दम आधार रज सत्य सुबानी अब कहते हैं कि जो उसमें जो मक्खनी घुमाने के लिए है सत्य सुबानी जो है वो हो ये उसको मथना है सत्य अब सत्य के माने तो वैसे है जो यथार्थ बात जो है वही बोलना सत्य वचन कहलाता है और सुबानी के माने है जो मधुर वाणी भी हो सत्य भी बोले और मधुर भी बोले प्रिय भी बोले अप्रिय न बोले तट न बोले हाँ, तब सत्य का सत्य है नहीं सत्य बोले और कट बोल दिया हाँ? सत्य बोला और कर्कश बोल दिया तो फिर वो सत्य का जो है सत्य जो है जितना सुंदर होना चाहिए उसकी सुंदरता नष्ट हो जाएगी इसलिए सत्य के साथ में सुबानी भी है तो ये सत्य और सुबानी जो ये है ये व्यवहार व्यक्ति का जीवन का इस प्रकार से करे तो ये मथानी का काम करेगा लेकिन जब ये कहते हैं कि मथानी तो अपने हृदय चल रही है वही प्रदेश चल रहा है तो वहां सत्य सुबानी क्या होगा तो वहां सत्य को माने परमात्मा रूपी जो सत्य है जो शास्त्रों में परमात्मा का जो सत्य हमने जाना उस सत्य को और शिवानी जो शास्त्रों की सुंदर वाणी है उस सत्य को अपने हृदय में अनुचिंतन करें बार बार उसी के द्वारा विचार करें बार बार अपने मन में विचार करें कि परमात्मा निर्गुण रूप कैसे है और उसने सगुण रूप धारण किया तो कैसे धारण किया निर्गुण सगुण में क्या अंतर है दोनों कैसे हो सकते हैं दोनों में किस प्रकार है क्या अब इस प्रकार का विचार कर रहे हैं तो शास्त्र के वचन को अपने स्थान पर अब किसी राशि की चौपाई याद कर ली कि सगने अग्नि नहीं चतुर्भेदा उसको जो जो गुण रहित सगुन सही कैसे हिम बिलग जमा हिम उपल बिलग नहीं जैसे अब उदाहरण देख लिया वहां जो जल है और जैसे कि बर्फ है उस प्रकार से जैसे दोनों एक अलग अलग नहीं एक ही वस्तु है तो ठीक है वहाँ पे जल है वहाँ पे बर्फ है और बर्फ पिघल गई तो जल हो गया जल जम गया तो फिर बर्फ बन गई तो ऐसे ही यहाँ परमात्मा जो है निराकार है सर्वत्र व्यापन चैतन्य है वो परमात्मा सगुण कैसे हो गया तो उस परमात्मा ने अपनी माया से ही एक आकार रूप धारण कर लिया तो सगुण हो गया चाहे जगत का रूप धारण कर लिए चाहे किसी जीव का रूप धारण कर ले चाहे मनुष्य का रूप धारण कर ले कोई सही धारण कर लिया कोई आकार बना लिया तो सगुण हो गया सगुण रूप जो है पुरुष अपना आकार छोड़ दिया जैसे बर्फ पानी बन सकता है ऐसे सगुण रूप फिर निर्गुण रूप बन सकता है ऐसे करके अपने मन में उसी बात को बार बार बार बार दोहरा रहे हैं ये मंथन हो रहा है यही करना पड़ता है ज्ञान का उत्पन्न होना हृदय में तो अगर कोई व्यक्ति बहिर्मुखी हुआ और बाहरी बातों में लगा रहे लोगों की झंझटों में पड़ा रहे कहने सुनने में हाय हाय तिलकिल दौड़ धूप उन्हीं में लगा रहे तो ये ये सब विचार तो करे इसलिए विचार नहीं करे तो ज्ञान आगे विकसित नहीं होगा और ज्ञान का फल भी अपने हृदय में नहीं दिखाई दे कभी कभी लोग कहते हैं हमसे शांति का पूछ रहे हमसे बता रहे लेकिन उसका जीवन में प्रभाव तो दिखाई ज्ञान तो तुमने सर दिया और जो पूछो तुम सब बता दी लेकिन उस ज्ञान का फल जीवन में क्या दिखाई देगा हाँ? वो ज्ञान का फल जीवन में नहीं दिखाई देगा तो क्या सुझाव दिया अरे जो जाना है उसको अब हृदय में जमने दो खिलाने दो मथो उसको मंथन करके उसको अपना उस ज्ञान को अपना ज्ञान बनाओ और फिर उसके अनुसार जीवन भी बने ज्ञान का फल भी दिखाई दे जीवन में तब कहने तो डर तो ज्ञान का क्या तो ऐसे करके मथे तब मत काल मथन यहाँ पर जब ये सब साधन बताए ये सब साधन हो गए तब मत काल ले नवनीता तब उसको मथन करके नवनीत निकाल ले मैंने आपको चिंतन करते करते अपने अंदर विचार करते करते जो सारा बात है समस्त ज्ञान की वो अपने अंदर निकाल ले अपने हृदय में खोज करके नवनीत के समान और विमल विराग सुभग सुकनीता तो ये नवनीत क्या है ये विमल विराग है और सुभग है सुकनीता है ये वैराग के तीन विशेषण दिए नवनीत जैसे नवनीत और वैराग एक ही समान है और दोनों को तुलना करो तो एक समान मिलते भी है जैसे नवनीत है उसमें भी वैराग दिखाई देता है दूध में वैराग नहीं था लेकिन दूध से जब मक्खन निकल आया तो उसमें वैसे के लक्षण आ गए दूध को जरा पानी में डाल करके देखो और मक्खन को जरा पानी में डाल करके देखो तो आपको साफ दिखाई देने लगे कि दूध में के नहीं है पानी में मिल करके एक हो जाता है लेकिन मक्खन में वैराग्य मक्खन को पानी में डालो तो पानी में घुलेगा नहीं डूबेगा नहीं ऊपर उतराता रहेगा पानी तो उसके ऊपर नहीं पड़ेगा ये मक्खन का लक्षण बैराग्य का लक्षण मक्खन में साफ दिखाई देता तो ऐसा मक्खन लेने के आगे उन्हें बैराग आ जाए अब देखो अब ये बैराग्य का जहां पर निशान का शब्द के बाद बैराग की बात जो आई है तो बैराग इतनी मुश्किल में निकला वैराग तो नहीं आ गया ये बैराग जहाँ आ गया ये बैराग को समझे बैराग बहुत उत्तम वस्तु है तो वैराग ऐसा नहीं कि तो वैराग गला दबाने वाली है और व्यक्ति को हत्या करने वाली है और व्यक्ति आया करे वैराग के काम से दुखी परेशान हो तो ये तो ऐसा नहीं है ये दुख तो आध्यात्मिक जीवन का साफ रखो इस वैराग एक व्यक्ति जो है वो परमात्मा को प्राप्त करता है बिना वैराग के नहीं और वैराग आनंददायी है वैराग में स्निग्धता भी है वैराग्य में निर्लेपता है जैसे उसमें है मक्खन निर्लेप है स्निग्ध है ऐसे वैराग्य भी स्निग्ध है मन सत्य प्रति प्रेम सत्य प्रति उदारता का भाव झगड़ा किसी का नहीं कम वैराग्य वैराग्य के माने ये नहीं घर किसी से लड़ते फिर किसी लड़ रहे हैं हम तो वैराग्य है किसी लड़ रहे हैं किसी का मैं प्रेम नहीं तो लड़ाई करेंगे और किसी से हम्म? ऐसा नहीं वैराग्य के मैंने स्निग्धता होनी चाहिए सबके प्रति सहानुभूति सबके प्रति क्षमा भाव सबके प्रति प्रेम भाव दया भाव उदारता का भाव सबके साथ में सबके साथ में स्नेह का भाव ये सब जब भाव आवे तब जो है वो वैराग्य बनाइए तो कहते वैराग्य में क्या क्या बातें बता दी कि विराग एक तो विमल हो सुभग हो सुपुलित हो ये वैराग्य के लक्षण बताइए विमल वैराग्य विमल वैराग्य माने जब हृदय से आंतरिक रूप से ऐसा वैराग्य हो जिसमें की निर्लिपता हो असंगता हो संग्धता हो तो तो विमल वैराग्य है और लोगों को ऊपरी वैराग्य आ गया और मन में वैराग्य आएंगे तो ऊपरी वैराग्य जो है वो विमल वैराग्य नहीं होगा दिखावटी वैराग्य जो है वो व्यक्ति को विरागी व्यक्ति को भी दुख देगा और अन्य व्यक्तियों को भी दुख देगा दिखावटी वैराग्य जो है दुख भी देता है अपने आप को भी दुख देता है कभी कभी ऊपरी बैराग धारण करने वाला व्यक्ति जो वो वो ये समझता कि मैं तो व्यक्त हूँ मैं बैराजी हो गया हूँ अब क्या होना चाहिए कि दूसरे लोग अब हमारा अपमान न करें सब हमारा सम्मान करें अब दूसरे लोग सम्मान नहीं कर रहे हैं तो अब हाय हाय कर रहे मैं इतना व्यक्त और दूसरे लोग मेरा सम्मान नहीं करते मैं इतना गलत और दूसरा लोग मेरा सम्मान नहीं करते अब वो तो सम्मान क्या वैराग्य क्या हो गया एक अपराध हो गया समस्या बन जाएगी